घननाद साधु है तप से है बलशाली है वरदानी है संयमे नारी व्रत वाला है एक ही प्रमीला नारी है वह योगी स्वयं योग द्वारा चाहे तो मर सकता है मर कर फिर अपने प्राणों को तन में प्रविष्ट कर सकता है इस कारण ही ऐसे योद्धा का तन छिन्न भिन्न कर आना तुम सिर को हाथों ही हाथों में सादर मेरे ढिंगलाना तुम कारण किसी से आ जाने पर कुछ और कार्य भी करना है विज्ञान दृष्टि से वह मस्तक हम सबको यहाँ पर रखना है इस महाकार्य के साथ साथ कुछ और गुप्त भी कारण है उस कारण ही पर अवलंबित अपनी जय है अपना रण है वह सती प्रमीला सुलोचना जो मेघनाद की नारी है त्रिभुवन विख्यात साध्वी है वासुकी की राजकुमारी है इस जग में उत्तम श्रेणी की वह प्रतिव्रता कहलाती है उसके व्रत ही की शक्ति श्री राम स्वामी को विजय दिलाती है ऐसे थतवंती के पति काम फिर अगर भूमि पर आएगा कपिदल तो किस गिनती में है संसार भस्म हो जाएगा कुंभकर्ण इत्यादि का हुआ ठीक संहार उससे तो निश्चय घटा धरती का कुछ भार पर मेघनाथ बद के पहले तो होता है कुछ संकोच मुझे पृथ्वी से नर उठ रहा एक रह रह होता यह सोच मुझे नारी यदि पतिव्रता है तो वह भी नारी व्रत वाला है ब्रह्मा ने यह निर्मल जोड़ा उज्ज्वल हाथों से ढाला है सचमुच रावण का पाप आज उसके भी नाव डुबाता है घर का स्वामी पापी हो तो घर भर का नाश हो जाता है अच्छा जाओ वध करने को अब और नहीं कुछ कहना है दुनिया तो आनी जानी है आखिर तक किसको रहना है धन्य धन्य कहने लगा भालू की समुदाय लखन लाल चल रण के लिए समझा सब अभिप्राय सम्मुख लक्ष्मण को निरख बोल उठा घननाद अरे आज फिर आ गया रही न पिछली याद उस बार भाग्य ने बचा लिया इस बार न बचने पाएगा पहले मुरछा ही आई थी पर अब के प्राण गवाएगा मैं वह सागर हूँ बड़ा आघर तो प्रलय काल उमड़ आएगा वह ज्वालामुखी शैल हूँ मैं फूटा तो जग जल जाएगा लक्ष्मण बोले गर्व यह यह घमंड दे त्याग मैं मैं का अच्छा नहीं किसी भी भांति राग है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है फल वाला तर जब फलता है नीचे को झुक जाता है मैना जो मैना कहती है वह सबके मन को भाती है बकरी जो मैं मैं करती है वह गले छुरी फिरवाती है बात काट कर बीच में बोल उठा घननाद बच्चे यह रणभूमि है नहीं प्रासाद सहसा धीरज या स्वाभिमान रणवीरों का आभूषण है नाहर सागर जन तर्जन ही सच्चे योद्धा का लक्षण है मैना जो मैना कहती है पिंजरे में जन्म बिताती है बकरी गर्दन कटवाती है फिर मैं तनिक न आ जाती है जाती है बोले लखन उसकी भी यह टेक मैं वाली के लिए भी आता है दिन एक कर अष्टमांस को पृथक पृथक जब आत निकाली जाती है फिर उसे आत के यंत्रों से जब तात बना ली जाती है वह दांत जिस समय हाथों में धुनने वाले के आते हैं दुनिया जब उसको धुनता है तब तू तू ही गाती है गर्व है बुरा अरे घन नाद गर्व है बुरा अरे घन नाद बड़ो बड़ों को कर देता है क्षण में यह बर्बाद गर्व है बुरा अरे घननान बड़ो बड़ों को कर देता है क्षण में यह बर्बाद गर्व किया था खरदूषण दे रहा न पता निशान गर्व किया था कुंभकर्ण ने पहुँचा तुरंत मसान गर्व का है परिणाम विशाल गर्व है बुरा अरे घन नान गर्व का है परिणाम विषाद गर्व है बुरा अरे मेघनाल लक्ष्मण का उपदेश सुन गरजा फिर बलवान बोले बच सकते नहीं आज तुम्हारी जान ब्रह्म शक्ति से हो व्यथित फिर न हमारे प्राण यही सोच छोड़ा वही लक्ष्मण ने निज बाण यह बाण था था काल बाण क्षण भर में सायंकाल किया उस इंद्रजीत से योद्धा को जर्जरित हृदय तत्काल किया सुदबुद शरीर की नष्ट हुई यह हाल हो गया योद्धा का आँखों के आगे अंधकार छा गया मृत्यु की निद्रा का इतने में ही दूसरा बाण लक्ष्मण के कर से फिसल गया वह उसके दाए भुजा काट आकाश मार्ग से निकल गया फिर उसके हाथों पावों को दो चार सरों से भिन्न किया कुछ सहायक ऐसे भी पहुँचे संपूर्ण अंग को छिन्न किया जय राघवेंद्र कह कर तुरंत सर काटा उसका लक्ष्मण ने तो चाया रिप को परम धाम श्री राम नाम उच्चारण रे जो श्रीलंका में रहता था लंका वालों के माथों पर इस समय रक्त से लथपथ था भी महावीर के हाथों पर नखन लाल आए धर बानर दल के संग अब तो कुछ बीता उधर सुनिए वही प्रसंग सुलोचना के नाम से है जो जग विख्यात उसे प्रमीला सती की कहते हैं हम बात